तैको उदनम प्रविष्टो रूपम प्रति रूपो सर्वलोक से चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोष न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य श्री सर्वभूतांतरात्मा पश्य धीरा तेषाम सुखम शाश्वत नेतरेशा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम तेषाम शांति ही शाश्वती नेतरेशाम उन्हीं एक है वो भुवन में चौदहों भुवन में अथवा पृथ्वी और वन है भूगनम भवंती भूतानी अस्मन इति भूवहा प्रविष्ट रहता है भुवन में प्रविष्ट रहता है इसका अर्थ है पार्थिव और पृथ्वी माने जलीय पदार्थ दोनों में अनुगत है अग्नि जल की ऐसी कोई बूंद नहीं कोई कणा नहीं जिसमें अग्नि न हो और पृथ्वी की ऐसी कोई कणा नहीं जिसमें अग्नि न हो हम सब लोगों के शरीर में गर्मी है आप देखते ही हो और वो भी करीब करीब आते ही पास रहती है अगर बुखार ना आवे बीमारी ना होए को सतहन की थान दे नाप लेते हैं ना मित्र से थर्मामीटर का नाम है मित्र हाँ, जो गर्मी का मापक यंत्र है गर्म माने गर्मी प्राइवेट शरीर ही रहता है पाचन के लिए भी सब में रहता है रक्त की द्रवता के लिए भी गर्मी की जरूरत पड़ती है नहीं तो जम जाए तो सबके शरीर में अग्नि है और वो एक है और सारे भुवन में वो प्रविष्ट है रूप अलग अलग लेकिन हर रूप में अग्नि एक ही हर रूप में हर रंग में हर बिंदु में हर काम में हर व्यक्ति में अग्नि एक ही है ये अग्नि का रूप देखो क्या मजेदार है घड़ा अलग अलग लेकिन माटी एक बूंद अलग अलग लेकिन पानी एक चिनगारी अलग अलग लेकिन अग्नि एक और लकड़ी कोई लंबी कोई गोल परंतु अग्नि एक घड़े अनेक और आकाश एक है ये शरीर रूपी घड़े अनेक इनमें हवा एक इनमें गर्मी एक और तो जब इतनी स्थूल चीजें मोटी चीजें अनेक में एक रहती हैं तो आत्मा के संबंध में शंकई क्यों होती है कि वो अनेक में एक है कोई शंका नहीं करनी चाहिए वो अनेक में एक है सब शरीरों में एक है वैसे एक अज्ञान और ज्ञान का लक्षण देखें एक में एक जोड़ो तो दो हुआ ना फिर एक जोड़ो तो तीन हुआ है ना एक में दस जोड़ो तो ग्यारह हुआ दो संख्या हो गई है एक एक ऐसे जोड़ते चले जाओ तो अरब खराब सब होता है ना नील महावीर पद्म महापद्म अपने को गिनती है इनकी लेकिन पचास बिंदु हो जाने पर भी क्या इक्यावनवा बिंदु नहीं हो सकता क्या सौ बिंदु हो जाने पर एक सौ एकवा नहीं हो सकता तो तुम भले गिनती का नाम नील महानील मत रख सको अरब खरब मत रख सको लेकिन बिंदु के बाद बिंदु यदि बढ़ता जा सकता है और एक के बाद एक यदि जोड़ा जा सकता है तो कहीं उसका अंत मिलेगा हाँ। अगर दो में दो जोड़ो तो कहीं अंत मिलेगा जोड़ते चले जाओ समझने का एक तरीका है तो लोग कहते हैं इससे हम पूर्णता को समझ सकते हैं तो इससे पूर्णता को नहीं समझ सकते हो अज्ञात पूर्णता की कल्पना कर सकते हो जितने बिंदु बढ़ाए जा सकते हैं एक पर पचास ही बिंदु क्यों रखते हो एक पर सौ ही क्यों रखते हो एक पर हजार लाख या क्यों रखते हो एक पर नील महानील पद्म महा पद्म असंख्य बिंदु रखो तो वो जो संख्या की पूर्णता होगी वो कल्पित पूर्णता होगी वास्तविक पूर्णता नहीं होगी गणित भेद हो गया इस बारे में गणित से आप भौतिक पदार्थ का हिसाब लगा सकते हैं अच्छा आप निकालना शुरू करो तो एक एक जब दो होता है तो एक संख्या को सावय मानना पड़ेगा हो सावय न होता तो जुड़ता नहीं किसी से तब तो एक बटे दो भी होगा ना सावय अगर एक संख्या सावय न होती तो एक बटे दो कैसे होता एक बटे दस कैसे होता एक बटे अरब कैसे होता इसलिए एक संख्या भी चारों है और एक को एक एक एक जोड़ करके जो भी अज्ञात संख्या कोई बनेगी सो भी होने का जो साक्षी है वही एकता और पूर्णता दोनों का अधिष्ठान है दोनों का प्रकाशक है इसलिए आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं अपने सिवाय अगर कोई दूसरा ब्रह्म होगा तो वो या तो एक होगा और या तो वही पूर्ण होगा इसलिए उसकी पूर्णता वास्तविक नहीं होगी वो में असल में एक भी अज्ञात है और पूर्णता भी अज्ञात है आत्मा की जो ज्ञात सत्ता है आत्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा का स्वरूप है वो ब्रह्म है तो एक और बात आपको तो सुनाते हैं कल इसका प्रसंग आ गया था एक अपने सत्संगी पूछ रहे थे ये प्रातिभाषिक सत्ता क्या होती है तो हाँ, ठीक है इसको समझना चाहिए बोला और रज्जू की सत्ता व्यावहारिक है रस्सी जो होती है ना रस्सी वो प्रमाण प्रतिपन्न है वो खूब जांच के पड़ताल के आख से देख के उलट के पलट पलट के उसको पहचान सकते हैं और पहचानने पर भी रस्सी रस्सी रहेगी लेकिन उसमें दूरी के दोष से या अंधकार के दोष से या नेत्र के मांड के दोष से आरोपित जो सर्प है है ना वो जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है तभी तक है और रस्सी का ज्ञान हो गया तो बाधित हो गया तो प्रमाण से सिद्ध व्यावहारिक सत्ता में उस व्यावहारिक वस्तु के रहते हुए ही जो चीज आरोपित होती है और मिट जाती है उसको प्रातिभाषिक बोलते हैं वो प्रतिभास है माने केवल भासती है वो चीज है नहीं तो व्यावहारिक सत्ता वो है जो जिस प्रमाण से मालूम पड़े उस प्रमाण से न कटे जैसे आंख से जब रस्सी दिख गई तो अब आंख जब देखेगी तब उसको रस्सी देखेगी है ना ठीक देखेगी तो रस्सी देखेगी लेकिन रस्सी को ठीक न देख करके जितनी भी चीज रस्सी में मालूम पड़ेगी रस्सी जिन जिन रूपों में मालूम पड़ेगी माला के रूप में डंडा के रूप में भू छिद्र के रूप में है? वो सब क्या होगा तो वो सब प्रातिभाषिक होगा ये व्यवहार में व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता का क्या भेद होता है ये बताया बोला अब देखो आपकी जागृत अवस्था व्यावहारिक है जो कल आप थे वही आज हो वही शरीर है वही मकान है जहाँ सोए थे वही जगह है और जो नाम कल था वही आज रहा जैसा शरीर कल था वैसे ही आज रहा वही बेटी वही बेटा वही पत्नी वही कुटुम्ब वही धन वही बैंक बैलेंस जो कल शाम को छोड़कर अरे सोए थे वही आज भी है तो ये सब हुआ व्यावहारिक लेकिन बीच में जो सपना आया है सपने में गरीब हुए धनी हुए दूसरे हुए तीसरे हुए इनसे मिले उनसे मिले यहाँ गए वहाँ गए इतना समय बीता वो सब क्या है तो वो व्यावहारिक जागृत के रहते हुए ही मिथ्या हो गया है इसलिए उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक स्वप्न के पदार्थों की सत्ता प्रातिभाषिक है और जागृत के पदार्थों की सत्ता व्यावहारिक है जागृत में भी जो सत्ता भ्रांति के कारण सत्ता मालूम पड़ती है सो प्रातिभाषिक है, है और जो प्रमाण से मालूम पड़ती है सो व्यवहारिक है अब ये जो अपना आत्मा है ना हो ये व्यवहार प्रतिवाद और दोनों का अभाव इनके परस्पर बाधित होने पर भी ज्यो का त्यों रहता है तो स्वप्न तो जागृत में ही बाधित हो जाता है और सुसुप्ति ही जागृत में बाधित हो जाती है स्वप्न में जागृत नहीं भागता है ना और सुसुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों नहीं भागते हैं लेकिन अपने आप का होना तीनों में अनिवार्य है कि नहीं तो आत्मसत्ता की अपेक्षा से जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों प्रातिभाषिक हैं परमार्थ आत्मसत्ता है और ये बदलने वाली जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों प्रातिभाषिक हैं बोले भाई व्यवहार में एक बात देखने में आती है कि जब रज्जू का ज्ञान हो जाता है तब सर्प का फिर भान नहीं होता तो आत्मा का ज्ञान होने पर प्रपंच का भान नहीं होना चाहिए मन जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भान नहीं होना चाहिए तो इसका समाधान ऐसे करते हैं कि भ्रम दो प्रकार का होता है एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक जैसे आप चश्मा लगा के किसी सफेद चीज को हरी देखते हैं हरा चश्मा आंख में लगाया और सफेद चीज को हरी देखने लगे तो चश्मा हटा के देख लो वो सफेद है और चश्मा लगाने पर वो मालूम पड़ती है हरी तो सफेद का ज्ञान होने पर भी उसकी हरियाली तब तक दिखती रहेगी जब तक चश्मा आग पर लगा रहेगा है और जब चश्मा उतर जाएगा तब हरियाली भी उतर जाएगी इसी प्रकार ये जो परिच्छिन्न अहंकार है ना अंतकरण ये है चश्मा और आत्मदेव इस अंतकरण का चश्मा लगा करके प्रपंच को पृथक सत्य के रूप में देख रहे हैं जब ये अंतकरण का चश्मा उतर जाएगा है विमुक्त विमुचते जब ये चश्मा उतर जाएगा तो परिच्छिता जो भासती है परिच्छिन्न खुर्दबीन लगा लेने के कारण हमको पदार्थ परिच्छिन्न दिखाई पड़ रहे हैं अगर हम अंतकरण के द्वारा विचार न करें इस अंतकरण को बच्चे खाते में डाल रहे हैं और अपने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहे स्वरूप दृष्टि से देखें तो प्रपंच नहीं है और अंतकरण का चश्मा लगा करके देखेंगे तो प्रपंच भाषेगा लेकिन जैसे हरे चश्मे से देखी हुई हरियाली मिथ्या होती है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती चश्मा के कारण भागती है इसी प्रकार अंतकरण में मैं मेरा करके देखने के कारण ये परिच्छिन्न अन्य प्रपंच जो है तो ये अं, रंगीन दृश्य के समान मालूम पड़ता है देखो चंद्रमा छोटा क्यों मालूम पड़ता है वो है तो बहुत बड़ा बोले दूरी की उपाधि है है ना और आंख हमारी उतनी दूर तक नहीं देख सकती तो सूर्य जितना छोटा क्यों दिखता है तो ऐसे छोटे से अंतकरण से और छोटे से मय से जब हम ब्रह्म को नापना चाहते हैं तब वो हमसे अलग हो करके छोटा हो करके दृश्य हो करके जड़ रूप हो करके भागता है और जब <clears throat> अपनी अनंतता को ध्यान में रखकर देखते हैं तो ये सारा प्रपंच अपने आप में केवल कल्पित रेखा के समान कल्पित दृश्य है ना ऐसा भागता है अब एक दूसरी बात इसके संबंध में सुनाते हैं एक तथा वहाँ तो परमार्थ जो है ना पारमार्थिक सत्ता में व्यावहारिक सत्ता भी प्रातिभाषिक है व्यावहारिक सत्ता में केवल भ्रांतिजन्य दोषजन्य हाँ जैसे निद्रा दोष जन्य स्वप्न प्रातिभाषिक है जागृत के व्यवहार की दृष्टि से रज्जू में सर्प प्रातिभाषिक है है ना ठीक ठीक रज्जू और नेत्र का संयोग न होने के कारण अंधकार आदि के दोष है तो व्यावहारिक दृष्टि से जैसे प्रातिभाषिक सत्ता मिथ्या होकर के भासती है उसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता भी मिथ्या होकर के भासती है अब देखो एक इसका नतीजा आपको सुनाते हैं क्योंकि उसके बिना फिर वेदांत अधूरा ही रहता है जिसको हम मिथ्या कहते हैं उसको अधिष्ठान रूप कहते हैं जैसे सर्प मिथ्या है ये कहने का अभिप्राय होता है कि रज्जू ही है सर्प नहीं है माने जिसको तुम सर्प समझ रहे हो वो रज्जू ही है ये अभिप्राय होता है इसी प्रकार जिसको तुम प्रपंच समझ रहे हो वो ब्रह्म ही है है ना इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा शत्रु जो दिखता है मित्र जो दिखता है जो चीन पाकिस्तान दिखता है है ना जो महाराष्ट्र गुजरात दिखता है जो मैसूर महाराष्ट्र दिखता है, है? तो ये असल में सब क्या है जैसे सब धरती है जैसे सब जल है जैसे सब अग्नि है जैसे सब वायु है जैसे सब आकाश है, हैं? जैसे सब मन है वैसे सब आत्मा है और एक आत्मा परमार्थ सत्ता संपूर्ण अर्थों का परम रूप यही अद्वैत ब्रह्म है है ना? इसलिए ब्रह्म ही सब है हाँ। जिसको तुम शत्रु मित्र भला बुरा समझते हो देखो हम ये लो, हम लोगों का ये जो कटिवस्त्र है ना ये पुरानी पोशाक है ऐसा मालूम पड़ता है ना अगले जमाने में ये मॉडर्न यही होगी बोला हाँ क्योंकि स्त्रियों ने स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया है है ना तो भाई हाँ, हाँ, ये हम लोगों का कटिबद्ध ही तो है ना क्या तो वो हम लोगों से थोड़ी पिछड़ी हुई हैं जरा जरा सा कपड़ा शरीर पर लगाती हैं है ना आगे जब वो हम लोगों की कक्षा में आवेंगी तो जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहने लगेंगे तो जंगली स्त्रियां ऐसी रहती हैं रहे। तो कहने का अभिप्राय ये कि जो पुराना होता है वो नूतन हो जाता है जो नूतन होता है वो पुरातन हो जाता है नूतनत्व और पुरातनत्व भी है ना प्रति प्रातिभाषिक सत्ता में ही है नूतनत्व और पुरातनत्व पारमार्थिक सत्ता में नहीं है कल आपको सुनाया ना कि ये जो कट्टर धर्मात्मा लोग होते हैं वो भूत को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसको हम वर्तमान में रखेंगे और भविष्य में ले चलेंगे वो भूत का बोझ उनके लिए बड़ा दुखद होता है और ये जो कुर्सीधारी लोग होते हैं है ना मेयर हैं मिनिस्टर हैं मेंबर हैं है? ये मे में करने वाले लोग जो हैं वो सब मे से शुरू होते हैं तो हाँ नारायण तो <laughs> शुद्ध माँ नहीं मिलेगा तो नारायण फिर क्या है तो ये लोग चाहते हैं कि हमारा वर्तमान जो भविष्य चाहे नष्ट भूत चाहे नष्ट हो जाए लेकिन हम अपनी वर्तमान कुर्सी को भविष्य में ले चले महाराज जी भूत ये वर्तमान में चिपक गए मोहक ग्रस्त हो गए वो भूत में संग वाले हुए आसक्त हुए भूत में आसक्त है और ये का वर्तमान में आसक्त हैं कुर्सी अपनी पद अपना ओहदा अपना और प्रगतिशील लोग कहते हैं कि चाहे वर्तमान नष्ट हो जाए है? चाहे भूत की बिल्कुल याद ना आवे लेकिन वो जो अनहुआ भविष्य है है अभी जो पैदा ही नहीं हुआ वो भविष्य आज आ जाए पांच वर्ष बाद वाली स्थिति दस वर्ष बाद वाली स्थिति आज आ जाए तो महाराज भूत को वर्तमान और भविष्य में ले जाना है ना और वर्तमान को भविष्य में ले जाना भविष्य को वर्तमान में ले आना ये सब दुख का कारण है है ना अरे जैसे चमक रहा है परमात्मा नारायण है ना जिस जिस रूप में चमक रहा है कहीं सांप के रूप में कहीं बिच्छू के रूप में कहीं भूत के रूप में कहीं प्रेत के रूप में देखो विराट के रूप में मुर्दे भी चमकते हैं ये आपको मालूम है ना गीता में आपने पढ़ा ना भविष्य में जो मरने वाले हैं तो भी दिखते हैं विराट में और जो पहले मर चुके हैं वो तो भी विराट में दिखते हैं तो विराट के रूप में जो भूत चमक रहा है जो वर्तमान चमक रहा है जो भविष्य चमक रहा है नारायण वो सब ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप ही है सर्वं कल्लतम ब्रह्म ब्रह्म ही वेदम एदम वरिष्ठम कहाँ असंतोष है कहाँ शांति कहाँ अशांति है तेषाम सुखम शाश्वतम ने तरेशम तेषाम शांति शाश्वती ने तरेशम अगर शाश्वत सुख चाहते हो और शाश्वत शांति चाहते हो हैं तो भूत की जो याद आती है वो ब्रह्म की एक चमक है भविष्य की जो कल्पना होती है वो ब्रह्म की एक चमक है वर्तमान में जो प्रतीत होता है तो वो ब्रह्म की एक चमक है भूत भविष्य वर्तमान सब प्रतीति मात्र है और एक पर ब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद ज्ञान परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय हाँ। नारायण उसके सिवाय और क्या जो है तो सब वही तो एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ देखो थोड़ी सी बात सुनाते चलते हैं अगर आपको केवल श्लोक का अनुवाद ही पढ़ना हो तो वो तो कितनी हिंदी टीकाएं नारायण छपी हुई हैं आप अपने घर में बैठ के भी उनको पढ़ लीजिए थोड़ा इसके साथ विवेक जोड़ना पड़ता है सर्वभूतांतरात्मा संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा एक है इसका अर्थ हुआ माने भूत अलग अलग है भूत माने जिनकी उत्पत्ति की कल्पना होती है उनको भूत बोलते हैं ये कभी पैदा हुआ है जिसके बारे में ऐसी कल्पना है उसका नाम भूत भवंती इति भूतानी देखो स्मशान में कभी होते हैं तो जो जिनका मन कमजोर है या जो डरने वाले हैं उनको स्मशान में भूत दिखते हैं तो भूत जब दिखता है तो उसकी उम्र भी दिखती है ये पचास वर्ष की उम्र इसकी होगी बोला सौ बरस की अरे भाई भूत का क्या पता है सैकड़ों बरस का भी होवे हजारों बरस का भी होवे तो क्या पता है ना तो भूत दिखता है ना ऐसे ये पदार्थों में है तो ब्रह्म परंतु जो भूतत्व दिखता है ना जैसे स्वप्न के प्राणी की उम्र प्राणी में नहीं है मन में है जैसे स्मशान में देखे हुए भूत की उम्र उस भूत प्रेत में नहीं है अपने मन में है वैसे ये जो संसार की उम्र मालूम पड़ती है ना ये उम्र भी वस्तुनिष्ठ नहीं है मनोनिष्ठ है माने ये चीज में नहीं है मन में है वो मन आओ उस भूत तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं अब देखो हाँ कोई आदमी आपको ऐसे अगर बातचीत में कह देना कि आप भूत हैं तो आप मारे बिना न छोड़े उसके ऊपर गुस्सा हो जाए है <laughs> लेकिन ये श्रुति जो है वो कहती है कि जब पंचभूतों से बने हुए एक पुतले को तुमने मैं माना है ना तो जैसे भूत किसी दूसरे में के शरीर में घुस के बोलता है मैं भूत हूँ है ना मैं अमुक की आत्मा हूँ कहा बोलता है दूसरे के शरीर में घुस के वैसे ही तुम पंचभूत से बने हुए शरीर में बैठ करके जब मैं मैं बोलते हो है, तो तुम्हारा नाम वेद ने क्या रखा बोले भूत सर्वभूत अंतरात्मा ये भूत जो है ये किसी दूसरे का नाम नहीं है वो ये मेरा नाम भूत है तुम्हारा नाम भूत है बोला मेरा पहले इसलिए कहा कि आप लोग तुम्हारा कहने से बुरा ये मेरे ही नाम है बोला सर्वभूत भवंती इति भूतानी जिनके जन्म की कल्पना होती है जिनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति की कल्पना होती है उसको भूत कहते हैं तो भूत भले अलग अलग है ना मालूम पड़े हैं लेकिन उनकी अंतरात्मा एक है हाँ। एक बार की बात है तो हमको ये ख्याल हुआ कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है बचपन की बात है सोलह सत्रह वर्ष की उम्र होगी और जिनके घर में अतिथि था मैं वो तो चले गए कचहरी करने अदालत में और कोई अफसर थे और अपने अपना बंद कर गए किवाड़ी बंद कर गए तो हम अकेले घर में तो छह घंटे का समय मिला अब वो हम ढूंढने लगे कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है तो आप जानते हो कोई मानते हैं कि दिल में रहती है है ना कोई मानते हैं शेर में रहते हैं अरे आपको क्या सुनाऊं ऐसे ऐसे मत हैं कोई मानते हैं कि गुदा के पास मूलाधार चक्र में आत्मा रहती है वहाँ से उठा के ऊपर ले जाना पड़ता है कोई मणिपूरक चक्र में मानते हैं कोई आज्ञा में मानते हैं हो है ना ये परा परा बाग के जो उपासक हैं वो मूलाधार में मानते हैं अघोरपंथी जो हैं वो मणिपूरक में मानते हैं बोला भक्त लोग जो हैं वो हृदय में जीव का निवास मानते हैं और कबीर पंथी आदि जो हैं वो आज्ञा चक्र में आत्मा का निवास मानते हैं और ये अष्टांग योगी जो हैं वो शून्य शिखर है ना सहस्त्रार के ऊपर आत्मा का निवास मानते हैं नारायण ये इतना झगड़ा है हमको कम से कम समझो कोई सवा सौ डेढ़ सौ संप्रदायों के सिद्धांत का मत का अध्ययन करके हमने रट रखा था कि किस मत में कहाँ कहाँ आत्मा मानते हैं बोला तो अब वो सब भूल गया ये बात दूसरी है कि भूल गया तो ये चक्कर ऐसा है कि आपको जो कोई आवे और बताए दे कि आत्मा यहाँ है और आप वही मानने लग जाएं, कोई कह दे कि पाँव के तलवे में आत्मा है कोई कह दे कि नाखून के सिरे पर आत्मा है नारायण को ऐसी आत्मा का निश्चय नहीं होता हमको याद आई कि रक्त की जो एक एक बूंद होती है उस बूंद में है ना करोड़ों करोड़ों है ना कीटाणु होते हैं वो अब उसका कुछ नाम रखो क्या बोलते हैं उनको है अच्छा ठीक है वो चीज वही है बोला कीटाणु कहो जीवाणु कहो जीवाणु एक एक बूंद में कोटि कोटि जीवाणु होते हैं और उनका शरीर बदलता भी रहता है भूरे जो हैं वो लाल हो जाते हैं और लाल जो हैं वो भूरे हो जाते हैं बोला और रक्त सारे शरीर में दौड़ता है अच्छा अंगूठे को अगर काट लें तो इसमें जीवाणु है कि नहीं है जितना रक्त है इसमें वो जीवाणुओं से भरा हुआ तो है ना अच्छा ऐसे कीड़े हम लोग गांव में हो आ, मत समझना कि हिंसा की वृत्ति रही होगी ऐसा तो मत समझना बचपन में जब खेलते थे जब की बात है ये केचुए होते हैं इतने इतने बड़े होते हैं बोला वो रेंगते हैं चलते हैं तो हम लोग खेल खेल में उनको दो टुकड़े कर देते थे तो दोनों चलते थे और दोनों जिंदा रहते थे बोला उनमें आत्मा कहाँ होती है आप बताओ कि उनकी आत्मा पिछले हिस्से में होती है कि अगले हिस्से में होती है उनकी आत्मा कहाँ होती है, है? एक कीड़ा होता है वो है ना डॉक्टर लोग उसको पालते हैं तो थोड़ी देर में वो एक से दो हो जाता है फिर दो का चार हो जाता है चार का आठ हो जाता है अरे वो लाखों के रूप में तो एक में से इतने कहाँ से निकलते हैं प्रत्येक कण में अगर उसके चैतन्य न होता असल में चैतन्य को कहीं से आना नहीं पड़ता कहीं से जाना नहीं पड़ता जैसे जितने घड़े बनाओ उसमें आसमान निकलेगा ना है? वो <clears throat> जितने घड़े बनाओ उसमें आसमान होगा इसी प्रकार जितनी उपाधियां चैतन्य का आभास ग्रहण करने के योग्य बनेंगी है ना उसमें जो अनंत चैतन्य आकाशवत परिपूर्ण चैतन्य है जो न कहीं आता है न कहीं जाता है है ना वो उसमें भासने लगता है है ना शीशे में आदमी घुसता थोड़ी है शीशे में आसमान घुसता थोड़ी है शीशे में तो आसमान पहले से ही रहता है इसी प्रकार हम में तुम में खड़ग खम्भ में है एक ही आत्मा एक ही आत्मा परिपूर्ण है और जब तक वो अज्ञात रहती है तब तक तो ये ख्याल होता है कि प्राणी में आत्मा है बोला और जब ज्ञात होता है उसका स्वरूप तब मालूम होता है कि आत्मा में ये उपाधिया स्वप्न के शरीर के समान आने जाने वाली हैं आत्मा में शरीर कल्पित है शरीर में आत्मा नहीं है बोला <clears throat> ये ये बात देखो भौतिक बात और अध्यात्म बात ये दोनों के दो पहलू हैं इसके संबंध में जड़ से चेतना की उत्पत्ति होती है इसका नाम जड़वाद है और चित्त से शरीर की उत्पत्ति होती है इसका नाम अध्यात्मवाद है वासना के अनुसार चित्त में जैसी वासना होती है और वासना का शरीर जैसा बनता है है ना जड़ धातुएं वैसी इकट्ठी हो जाती हैं उसके आसपास और ये वैसी आकृति बन जाती है लोहे का चूड़ा हो ना उसमें आप एक आड़ा टेढ़ा चुंबक डाल दीजिए और देखिए है ना जैसा आड़ा टेढ़ा चुंबक होगा उसके अनुसार लौह कर उसके चारों ओर लग जाएंगे वो लंबा हो जाएगा वो गोला हो जाएगा वो मोटा हो जाएगा लोहे के चूरे में पड़ा चुंबक और लोहे के कणों को खींच करके अपने ही शरीर की एक बड़ी शकल उसने फूल शकल बना ली तो चित्त की प्रधानता से देह का निर्माण होता है इसका नाम अध्यात्मवाद है हैं? और पंचभूत की प्रधानता से देह का निर्माण होता है इसका नाम अधिभूतवाद है लेकिन जिस चैतन्य की हम जिस आत्मा की चर्चा करते हैं न वो शरीर को बनाने वाला चित्त है और न तो चित्त जिससे पैदा होता है वो अद्भुत है जिसमें जड़ और चेतन जड़ और चेतन दोनों की जो कल्पना हो रही है उसमें सब कल्पना चैतन्य में ही साक्षी में ही हो रही है और वो साक्षी बिल्कुल ब्रह्म है तो प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत चैतन्य ही जीव चैतन्य के रूप में भागता है प्रत्येक कल्पना के साथ अनुगत जो चैतन्य है जैसे प्रत्येक घड़े के साथ जो अनुगत आकाश है वो घटाकाश मालूम पड़ता है वैसे प्रत्येक <clears throat> प्रत्येक अंत शरीर में अनुगत जो चैतन्य है उसको जीव चैतन्य कहते हैं नारायण <clears throat> जिस समय मैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुनतिष्ठती इस श्लोक का विचार करने लगा नारायण अब भूत माने पेड़ होता है कि नहीं बबूल होता है कि नहीं है ना वो बबूल के हृदय होता है कि नहीं बबूल के हृदय होता है वो उसको देहात में हीर बोलते हैं ये जो ये जो शीशम का पेड़ होता है बबूल का पेड़ होता है पेड़ के बीचों बीच एक उसका हीर होता है सार होता है वो बड़ा ठोस होता है हृदय होता है एक लकड़ी के एक कण में भी हृदय होता है अंतकरण शून्य कोई पदार्थ नहीं होता कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आज जड़ हो और कल कल जंगम न हो जाए आज स्थिर है और कल चल न हो जाए आज अचर है कल चर न हो जाए ऐसा कोई भी पदार्थ पृथ्वी में नहीं है इसलिए सर्वभूतांतरात्मा जो है वो एक है आप एक एक और एक एक एक की समष्टि है ना सर्व और एक और सर्व की कल्पना का कल्पना और उस कल्पना का साक्षी और साक्षी का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करती है श्रुति और वो जो कल्पना और कल्पना के विषय भूत एक और सर्व है वो अपने अधिष्ठान से कल्पना के अधिष्ठान से न्यारे नहीं है सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो अब रूपम रूपम प्रतिरूपो की व्यापार सुनाता है क्योंकि सर्वभूतांतरात्मा जो है ये घटाकाशव है अच्छा ये तो आपको मालूम होगा कि घड़े की दृष्टि से तो आकाश बड़ा है परंतु आकाश की दृष्टि से घड़ा छोटा होगा ये आपको मालूम है ना ये आकाश की दृष्टि से घड़ा छोटा नहीं होता है किसी गणितज्ञ को चुनौती दे दो कि आकाश की उम्र में खड़े की उम्र निकाल के बता दे आकाश की उम्र का करोड़वा हिस्सा क्या घड़े की उम्र है अरबवा हिस्सा है अच्छा आकाश की लंबाई चौड़ाई में जिसका और छोर ही नहीं है जरा घड़े की लंबाई चौड़ाई निकाल दो है और आकाश में जरा घड़े का वजन फैला के देख लो कल्पित बिंदु है आकाश में कल्पित उम्र कल्पित स्थान और कल्पित वजन वाला कल्पित बिंदु है घड़ा ये बात आपको गणित की रीति से मालूम होनी चाहिए बोला जो आकाश है सोई खड़ा है आकाश से न्यारा घड़े की उपाधि भी नहीं है दीवार भी नहीं है हाँ। वो खपर, वो जो खपरा है ना ठीकरा जो है कथीकरा भी नहीं है केवल हाँ। आकाश ही आकाश है और जब आकाश जैसे जड़ में ये स्थिति है तो जो अभिवासी है ना जो अपरिणामी चैतन्य है और जिसमें विवर्त केवल समझाने के लिए कल्पित है उस अखंड ब्रह्म में घट के सत्यत्व का प्रश्न कहाँ उठता है ब्रह्म अतिरिक्त घट नहीं है ब्रह्म ही वेदम मेदम वरिष्ठम गड़ा माने विश्व घड़े के बारे में जो जो गणित काम देगा ना वही संपूर्ण ब्रह्मांड घट के बारे में भी काम देगा वही विश्व घट के बारे में भी काम देगा आंख बंद कर लेने का नाम आंख बंद करके बैठने का नाम वेदांत नहीं है बोला रूपाम रूपाम प्रतिरूपो बहिष्ठ जितने रूप हैं उन सब रूपों में वही रूप है ब्रह्म किसी भी रूप का असली रूप है ब्रह्म लो अब आप तो थोड़ा दूसरी तरफ भी ध्यान आपका खींच देते हैं उपनिषद में केनोपनिषद में मैं उपनिषद की तो कथा ही कर रहा हूँ इकट्ठ है उकेन है कम ब्रह्म हाँ, कठ में भी कम है और केन में भी कम है वही कम ब्रह्म है वो तो प्रतिबोध विदितम मतम बोधम बोधम कम है और केन में भी कम है वही कम ब्रह्म है वो तो प्रतिबोध विदितम मतम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम है जैसे आपको ये ज्ञान होता है कि ये लाल फूल है और ये सफेद फूल है तो लाल फूल और सफेद फूल अलग अलग मालूम पड़ते हैं परंतु लाल फूल का भी ज्ञान है और सफेद फूल का भी ज्ञान है तो ज्ञान तो ज्ञान ही है जैसे देखो आपको लाल फूल भी रोशनी में मालूम पड़ता है और सफेद फूल भी रोशनी में मालूम पड़ता है तो सफेद फूल भी रोशनी है और लाल फूल भी रोशनी है है कि नहीं है ये तो विज्ञान बताता है ना ये जो लाल और सफेद रंग का भेद है ये सूरज के किरणों का ही बकरी भाव है ये प्रकाश ही है एक ही प्रकाश लाल और सफेद और पीला और नीला और हरा भिन्न भिन्न रंगों के रूप में एक ही प्रकाश दिख रहा है ये मालूम है ना तो प्रत्येक रंग में जैसे एक ही प्रकाश है वैसे ही प्रत्येक विषय के ज्ञान में एक ही ज्ञान है प्रतिबोध विदिता मतम ये घड़ी का ज्ञान ब्रह्म है बोला क्योंकि वही पुस्तक का ज्ञान है वही लाउड स्पीकर का ज्ञान है वही स्त्री का ज्ञान है वही पुरुष का ज्ञान है विषयों के अलगाव को जाहिर करने वाला जो ज्ञान है वो रोशनी की तरह एक है और अपना आत्मा है और वही वही भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित हो रहा है हाँ। मैं आदमी को नहीं देख रहा हूँ ब्रह्म को देख रहा हूँ बोला लाल को नहीं देख रहा हूँ रोशनी को देख रहा हूँ बोला लाल को नहीं देख रहा हूँ रोशनी को देख रहा हूँ सफेद को नहीं देख रहा हूँ रोशनी को देख रहा हूँ स्त्री पुरुष को नहीं देख रहा हूँ है ना प्रकाश को देख रहा हूँ ज्ञान को देख रहा हूँ है ना ये इसका नाम ये ज्ञान कहता है कई ज्ञान ब्रह्म है अच्छा जो घटक ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है बोला ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ही है ज्ञान को अलग करने वाला काल नहीं होता ज्ञान को अलग करने वाला देश नहीं होता ज्ञान को अलग करने वाली वस्तु नहीं होती हाँ, क्योंकि उनकी सत्ता भी ज्ञान से ही सिद्ध होती है उनका अधिष्ठान भी ज्ञान ही है हाँ, भूतम प्रसिद्ध परेण जग जग सदैव तत्स्यात इति में मनीषा अच्छा अब एक दूसरी चीज लो देव खल्यमानी भूतानी जायते आनंदे न जाता जीवंती आनंदम प्रयन से विषम विसंती आनंदो ब्रह्म यदि व्यजाना गुड़ खाने में एक मजा आता है रोटी खाने में एक मजा आता है, है? दाल खाने में एक चावल में एक कड़ी में एक है ना अब और है ना गुलाब जामुन में एक रसगुल्ले में एक है ना बीस बकेड़ा हमको नहीं मालूम है तो खीर तो अलग अलग है लेकिन मजा तो मजा ही है एक खट्टा मजा एक मीठा मजा एक कड़वा मजा ऐसा नहीं होता हो तो ब्रह्मानंद और गुणानंद एक ही है हाँ, जल्दी ये बात समझ में ना आती हो है ना तो पंचदशी का ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम जो है ना ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम पढ़ना चाहिए बोला पंचदशी का वो जो पांच आखिरी हैं आनंद का निरूपण करने वाले है ना एक विवेक है विवेक है सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए अस्तित्व का पांच प्रकरण और पांच प्रकरण दीप हैं प्रकाश का प्रतिपादन करने के लिए और पांच प्रकरण आनंद हैं आनंद का प्रतिपादन करने के लिए इस तरह पंचदशी पांच पांच प्रकरण में सब चित्त और आनंद का प्रतिपादन करती है पिछले पांच आनंद प्रकरण है न गुड़ की ओर मत देखो और जीव की ओर मत देखो भाई गुड़ और जीव गुड़ और जीव को छोड़ करके देखो तो आनंद ब्रह्म है है ना स्त्री और पुरुष की उपाधि को मत जोड़ो आनंद ब्रह्म है नृत्य क्रिया में क्रिया की उपाधि को मत जोड़ो आनंद है संगीत में आलाप की क्रिया को शब्द की और गले की उपाधि की क्रिया को मत जोड़ो आनंद ब्रह्म है है ना तो जैसे आनंद सर्वात्मा है जैसे प्रकाश ज्ञान सर्वात्मा है वैसे सत्ता जो है ना वो भी सर्वात्मा है और असल में सत्ता के बिना प्रकाश क्षणिक होगा और प्रकाश के बिना सत्ता जड़ होगी और सत्ता और प्रकाश के बिना है ना आत्मा क्या होगा शून्य होगा सत्ता और प्रकाश ही आत्मा है तो आत्मा होने से सत्ता परम प्रिय है आत्मा होने से प्रकाश परम प्रिय है आत्मा अपना आत्मा परम प्रिय परमानंद स्वरूप है और वही परम प्रकाश है और वही परमार्थ सत्ता है अर्थात आज ब्रह्म आत्मा के सिवाय ब्रह्मात्मा के सिवाय न दूसरा आनंद है न दूसरा ज्ञान है न दूसरी वस्तु है अर्थात और अर्थात ले लो है हाँ। ब्रह्मानंद ही सर्व आनंद है ब्रह्मानंद ही सर्व ज्ञान है और ब्रह्मानंद ही सर्व अस्तित्व है ब्रह्म के सिवाय है ना दूसरी वस्तु नहीं माने ब्रह्म ही ब्रह्म सब तो रूपम रूपम प्रतिरूप जितने अलग अलग रूप दिखते हैं उन रूप में जो अलगाव है वो तो कारणिक है माने इंद्रियक है करणिक है वो अंतकरणिक है जो अलगाव है सो और जो एकत्व है उसको स्वाभाविक है वो तो रूपम रूपम चाहे रूप कोई भी दिख रहा हो वही सत वही चेत वही परमानंद आत्मा ये आत्मा लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्य तो मालूम पड़ता है और चित्त भी मालूम पड़ता है लेकिन आनंद नहीं मालूम पड़ता तो इसलिए आनंद नहीं मालूम पड़ता कि आनंद स्वरूप तो तुम अपने को जानते हो मैं प्यारा हूँ ये तो जानते हो ना अपने बिना तो कुछ है ही नहीं स्त्री प्यारी नहीं पुत्र प्यारा नहीं धन प्यारा नहीं सबसे प्यारा तो अपना आपा जब उससे अलग ब्रह्म को देखोगे तब वो सत मालूम पड़ेगा चित मालूम पड़ेगा लेकिन आनंद नहीं मालूम पड़ेगा जब अपने से अभिन्न करके ब्रह्म को देखोगे तो सब परमानंद स्वरूप ही मालूम पड़ेगा सिनेमा के पर्दे पर जैसे मृत्यु भी आनंददायक है और बिछोह भी आनंददायक है और सर्प व्याघ्र आदि भी आनंददायक हैं वैसे पर ब्रह्म प्रकाशात्मक अधिष्ठान सत्ता पर अधिष्ठान के पर्दे पर जो कुछ प्रपंच में हो रहा है सब ज्ञानात्मक है सब आनंदात्मक है सब सत्तात्मक है ब्रह्म सत्ता के सिवाय और कोई नहीं प्रतिरूपो और बहिष्ठ जो रूप जितने दूर में रूप भागता है जितनी देर जितनी दूर और जो रूप भासता है वही ब्रह्म नहीं है जितनी दूर में जितनी देर में दूर में माने स्थान में और जितनी देर में अर्थात जितने काल में और जो माने वस्तु का जो रूप भास रहा है वो भाषित होने वाली देरी दूरी या वस्तु ब्रह्म नहीं है इसके बाहर जो तुम असंग खड़े हो है ना देखने वाले नारायण बाहर देश काल वस्तु की दृष्टि से बाहर नहीं है ना उनकी सत्या सत्ता शून्यता में स्वयं सत हाँ। वही वही का अर्थ है उनकी सत्ता शून्यता में स्वयं तुम सद रूप से जो विद्यमान हो ये तुम्हारा स्वरूप है अब अगले मंत्र में बताते हैं वायुर यथा वायुर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपाम रूपाम प्रतिरूपो एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ द्रव्य की उपाधि से ब्रह्म का निरूपण किया अग्नि है और क्रिया के अग्नि के दृष्टांत से और अब क्रिया की उपाधि से निरूपण करते हैं वायु में और असंगता से निरूपण करते हैं सूरज में बोला और आत्मा हृदय शस्त्र के रूप में निरूपण करते हैं तो बसी सर्वभूतांतर आत्मा में और सर्वाधिष्ठान से निरूपण करते हैं नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम सर्वाधिष्ठानता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम का तो वहाँ क्या है शांति है शाश्वती शांति है और एको बसी सर्वभूतांतरात्मा में हृदय प्रकाश का निरूपण है और सूर्य में सूर्य के दृष्टांत में सूर्योजता में असंगता का निरूपण है और वायु में संपूर्ण क्रिया में परमात्मा है ये निरूपण है और अग्नि में सर्व द्रव्य में परमात्मा है ये निरूपण है सर्व द्रव्य में सर्व क्रिया में और असंग और स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा अपने और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ये एक ही है इस प्रकार इस उपनिषद के प्रतिपादन की शैली है अब आगे कल सुनाएंगे